आप्यायन्तु ममाङ्गानि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् सामवेदी ओम शांति परिषद तृतीय अध्याय एकादश खंड तृतीय मंत्र तक कुछ विचार हो गया था आगे इस मधुविद्या के वंश परंपरा कहना चाहते हैं ये विद्या उपादेय है ग्राह्य है ये दिखाने के लिए इतने तो महापुरुष के द्वारा ऐसे महापुरुषों को उपदेश किया हुआ है ये बताना चाहते हैं मंत्र है आगे तद्धि तद ब्रह्मा प्रजापत उच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाभ्य तद्धि तद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठा पुत्रा पिता ब्रह्म प्रोवाच तद्धय तद्ब्रह्मा प्रजापत उवाच प्रजापतिर्मनवे मनो प्रजाभ्यः तद्धय तत्कुला तद्धय उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच तद्धय तत् तदह और प्रसिद्ध है वही रहा कौन मधु विज्ञान मधु विद्या को यहां एक तत्त शब्द से बोला ज्ञान मधु विज्ञान मधु उपासना ब्रह्मा प्रजापति ही हुआ जब ब्रह्मा मानी हिरण्य गर्भ प्रजापति माने विराट हिरण्य गर्भ ने विराट को कहा इस मधु विज्ञान को ऐसे महापुरुष से हमें विद्या उपासना है तद्दय तद ब्रह्मा तद एतत् मानी मधु विज्ञान ब्रह्मा मन हिरण्य गर्भ प्रजापति उपास प्रजापति मैंने विराट विराट के लिए कहा प्रजापति ने प्रजापति ने मानवीय और प्रजापति ने मनु मनु के लिए कहा मनु प्रजाप्य और मनु ने प्रजाओं के लिए कहा ऐसी परंपरा ऐसे शिष्ट पुरुषों के द्वारा आई हुई उपासना आई है और भी तद ये तद वही जो विज्ञान मधु विज्ञान है विज्ञान मानी मधु उपासना उद्दालकाय आरुणय ज्येष्ठाय पुत्राय उद्दालक उद्दालक नाम से उद्दालक है वो और अरुण के पुत्र होने से आरुणी बोला आरुणय आरुणी है वो अरुण के संतान है इसलिए आरुणी और उद्दालक उनका नाम है और ज्येष्ठ पुत्र है वो पिता के वो पिता ब्रह्म प्रवाच पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो उद्दालक है आरुणी है उनके लिए ब्रह्म माने मधु विज्ञान प्रवाच इस मधु विज्ञान को कहा ब्रह्म शब्द का मद विज्ञान है ठीक है मैं कहते हैं नानो विद्या सफला चेत उत्तर तरी किम उत्तर ग्रंथ है इतिहास क्या है विद्या फल के सहित कह दिया हम्म, विद्या का फल भी हो गया है सफला फल सहित विद्या मैंने उपासना बताई गई फिर आगे के ग्रंथ से क्या करना क्या प्रयोजन है प्रश्न आया तो कहा अरे बाबा ये विद्या ग्राह्य है कि त्याज्य है शिष्ट पुरुषों के द्वारा तो उपदिष्ट है ग्राह्य है ये कहने के लिए फिर कहना चाहते हैं या अनुपादेय नहीं उपादेय विद्या है उपासना है माने क्रम मुक्ति देने वाली उपासना है और इसके प्रवक्ता ऐसे ऐसे शिष्ट पुरुष हुए हैं हिरण्य गर्भ ने प्रजापति विराट के लिए कहा विराट ने मनु के लिए कहा मनु ने प्रजापति के लिए कहा और इधर और अरुण के संतान जो उद्दालक ऋषि है उनके लिए ज्येष्ठ पुत्र है वो और पिता ने उस माने मधु विज्ञान को कहा इनको भी कहा ज्येष्ठ पुत्र के लिए कहा था तो भाष्य में कहते हैं तद्धय तत् तद्धई का अर्थ मधु ज्ञानम मधु उपासना उपासना स्त्रीलिंग है मधु विद्या विद्या शब्द स्त्रीलिंग है क्या यहाँ तद्धय तत् ये तत् शब्द का नपुंसक प्रयोग है इसलिए मधु ज्ञान बोल रहे हैं वही उपासना है आदि विद्या ब्रह्मा मन हिरण्य गर्भ या ब्रह्मा शब्द गर्भ हिरण्य गर्भ है ब्रह्मा हिरण्य गर्भ विराजे प्रजापत प्रजापति के लिए कहा विराट के लिए कहा प्रजापति शब्द का विराट है विराट के लिए उवाचा ये मधु विज्ञान को बताया सोपी मनवे स मन विराट वो जो विराट भी मनु के लिए कहा विराट ने भी मधु विद्या को कहा मनुर इक्ष्वाद्याद्य है मनु ने इक्ष्वाकु आदि जो सूर्यवंशी राजाएं थे इक्ष्वाकु आदि उन प्रजाओं के लिए कहा प्रवाच इति विद्याम स्तौती ऐसे महापुरुष ने ऐसे महापुरुषों कहा करके इस उपासना की प्रशंसा करते हैं ऐसे है कि हमें भी करना चाहिए जिसे सिद्ध होता है शिष्ट पुरुष के द्वारा ग्रहणी है ग्राह्य है ये हाँ, उपाधेय है अनुपाधेय नहीं कहते हैं क्यों ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम आगता ब्रह्मा से लेकर हिरण्य गर्भ से लेकर विशिष्ट पुरुषों के माध्यम से आई हुई है ये उपासना ये सामान्य जनों के द्वारा कथित नहीं उपासना ये प्रशंसा इसलिए होती है ब्रह्मादि विशिष्ट आगता ब्रह्मा आदि मान हिरण्य आदि विशिष्ट पुरुष के द्वारा आई हुई है किंच और भी ये मधुविज्ञान के बारे में और भी बात है तद्दय तत्व मनोज्ञानम वही विज्ञान तद्वय हो मधुज्ञान कोई मधु विद्या मधु उपासना उद्दालक आया आरुण पिता उद्दालक नाम उद्दालक है अरुण के संतान होने से आरुणी कहलाए उद्दालक आरुणी के लिए पिता पिता ने ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म मन विज्ञान कोई विज्ञान या ब्रह्म संसार मतलब विज्ञान है वही उपासना मधु विज्ञान ज्येष्ठाय पुत्राय प्रवाद ज्येष्ठ पुत्र ने कहा उद्दालक आरुणी उस परमात्मा के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं उनके लिए कहा ऐसा बता दिया ठीक है स्तुतिम एवं अभिनय थी तो ऐसे शिष्ट पुरुष के द्वारा आने के कारण स्तुति हो गई कहा था स्तुति गई अभिनय दिखाते हैं ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम आगता कहा मानी हिरण्य गर्भ से ऐसे महापुरुष से वहां से विशिष्ट क्रम से आई हुई है ब्रह्मा हिरण्य गर्भ ने विराट के लिए कहा विराट ने मनु के लिए ऐसे शिष्ट पुरुष के क्रम से आई हुई विद्या आई है ये सामान्य विद्या ने कहा ठीक है तद्वैत उद्दालकाय इत्यादि ना विद्याया योग्यम पात्र प्रदर्शित ये तद्वैत उद्दालका इत्यादि वाक्यों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं विद्या सभी को नहीं देनी चाहिए उपदेश सबको देने योग्य नहीं ये विद्या ऐसी विद्या है हाँ। पात्र ढूंढ करके देना चाहिए आगे बोलेंगे या तो अपना पुत्र हो या शिष्य हो दो को ही देना बाकी को नहीं देना ऐसा करना कुपात्र को नहीं देना चाहिए विद्या ही कहते हैं या उद्दालक है आरुण विद्या ब्रह्म प्रवाच क्यों कहा कहते इसके लिए कहा टीका में यही बोलता है तब दई तद उद्दालक है इत्यादि इत्यादि वाक्यों के द्वारा विद्या या योग्यम पात्र विद्या के योग्य पात्र पिता जब पुत्र को उपदेश देता है तो गलत उपदेश नहीं देगा ये सिद्ध होता है योग्य पात्र है वो ये सिद्ध होता है तब दृष्टि किंच इत्यादि के द्वारा कहा था इतस्तर हम ये तद विज्ञान में इत्यर्थ <coughs> इस हेतु से भी पिता ने अपने पुत्र को उपदेश दिया है हाँ। इसलिए भी ये प्रशंसा के योग्य है विज्ञान ये जो मधु विज्ञान जो है प्रशंसा के योग्य है ग्राह्य है मधु विज्ञान करोती मधु विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है कहा ब्रह्म विज्ञान ऐसा होगा वही मधु विज्ञान का अर्थ है ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म उपासना है माने आदित्य के माध्यम से ब्रह्म उपासना है आदि के प्रतीक बना करके ब्रह्म की उपासना की जा रही है आगे मंत्र है इदम बाब ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रभुयात प्रणय्याय वा अंतेवासिने विलम्बावत ज्येष्ठा पुत्रा पिता ब्रह्म प्रब्रूयात प्रणय्याय्य वा इदम भाव इदम मधु विज्ञानम ये मधु विज्ञान इदम शब्द से मधु विज्ञान लेना है ये जो मधु उपासना चल रही है इदम भाव प्रसिद्ध है ये मधु उपासना तत् ज्येष्ठा पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात माने तद ब्रह्म वो जो मधु विज्ञान है वो मधु विज्ञान ज्येष्ठ पुत्र के लिए पिता उसका कथन करे अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए कथन करे अथवा प्रणय अंत्यवासी ने विरक्त शिष्य के लिए प्रणय होता है विरक्त ऐसा प्रणय होता है विरक्त विरक्त शिष्य के लिए अंत्यवासी शिष्य है विरक्त शिष्य के लिए सरक्त शिष्य भी काम नहीं आएगा उसका इसका ध्यान नहीं देता नहीं प्रणय नहीं प्रेम विरक्त प्रिय शिष्य होता है विरक्त होने से गुरु के प्रिय होगा ऐसे आदिवासी उसके लिए दो में से किसी एक को बताए या तो ज्येष्ठ पुत्र को बताए पिता इस मधु विज्ञान को या अपने समीप में रहने वाला जो अंत्यवासी शिष्य है प्रणय विरक्त है उसके लिए बात कहना करें ऐसा कहा टीका में कहते तस्य परोक्षत्व व्यावर्त है यह मधु विज्ञान की चर्चा होगी वंशावली कह दिया गर्भ बने ब्रह्मा गर्भ बने विराट के लिए कहा विराट ने मनु के लिए मनु के मनु ने किसी कहा इक्श्वा को आदि के लिए कहा और आरुणी के लिए भी बताया पिता ने कहा कहा ये तो परोक्ष दूर की बात हो गई हमारे सामने तो कुछ नहीं कहा इसलिए कहते हैं तस् माने मधु विज्ञान से परोक्षत्व व्यावरण परोक्ष रहे अपरोक्ष है यहां भी करना चाहिए हम लोगों को भी ये कहा इदम बाब इत्यादि करके आई कहा इदम बाब तद वही जो मधु विज्ञान है जिसकी चर्चा चल रही है यहाँ इदम शब्द आया तो मधु विज्ञान शब्द से लेना इम आता तो मधु विद्या लेते इदम आया हुआ है इसलिए मधु विज्ञान शब्द से कहना आया वही उपासना है इदम बाब तद यथोक्तम पूर्वोक्त जो मधु विज्ञान है पूर्व में जो कहा गया मधु विज्ञान अन्योपी ये नहीं कि वही महापुरुष ने उपदेश किया हो गया ये नहीं अन्य भी करे अन्य भी या पुत्र अपने जो बड़ा औरस पुत्र होगा ज्येष्ठ पुत्र होगा उसके लिए सर्व प्रियाय अर्य प्रिय अर्य हर तरह से प्रिय हो ज्येष्ठ पुत्र उसके लिए अर्य ब्रह्म प्रभुरिया ब्रह्म मान मधु विज्ञान प्रभुरिया ब्रह्म शब्द का अर्थ मधु विज्ञान मधु विज्ञान का कथन करे पिता अथवा प्रणाय योग्याय अंत्यवासी में प्राणाया माने योग्य जो विरक्त शिष्य हो अंत्यवासी माने शिष्य उस शिष्य के लिए कहा बाकी के लिए ना या तो ज्येष्ठ पुत्र के लिए या विरक्त जो अंत्यवासी शिष्य है उसके लिए बाकी के लिए नहीं अच्छा ठीक है अभी कहते हैं अच्छा ज्येष्ठाय पुत्राय ब्रह्म वक्तव्यम यदि पूर्वेशा अयम नियमो न इदानंतरा नाम आह पूर्व मंत्र में कहा था आर्य उद्दार जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके लिए पिता ने ब्रह्म का उपदेश किया ये पूर्वों का पूर्वजों का नियम था हमारे समय का नहीं है ये पहले की बात है ये शंका हो सकती है अतः ज्येष्ठ अतः ये ननु अर्थ में अतः ज्येष्ठाय पुत्राय ब्रह्म वक्तव्यम बड़े पुत्र के लिए मधु विज्ञान का ब्रह्म माने मधु विज्ञान मधु विज्ञान का उपदेश करना चाहिए यदि पूर्वेशम अयम नियम है ये नियम पूर्व पूर्व पूर्वजों का है न इदानीन तना नाम इस समय के लोगों का नहीं ऐसी शंका हो सकती है इसके उत्तर देते अन्यो भी नहीं नहीं आज के भी कोई भी हो अन्यो भी ये कहा ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रिय अर्य हर तरह से प्रिय है वो ज्येष्ठ पुत्र इसके लिए ब्रह्म प्रभु या मधुविज्ञान का कथन करें इत्यादि पात्रांतर में अनुजान आदि दूसरे भी प्रतिज्ञा करते एक पात्र और है एक तो ज्येष्ठ पुत्र है वधु विज्ञान का पात्र देने के पात्र विद्या देने के पात्र एक दूसरा क्या है ही आया अंत्यवासी ने कहा विरक्त शिष्य हो उसके लिए मंत्र है नान्यस्मयी कस्मयी चना यद्यपि अस्मा इमाम अद्वी परिगृहीता धन से पूर्णाम दद्यात एतदेव ततो भूय इति एतदेव ततो भूय इति नान्यस्मै कस्मै च न यद्यपि अस्मा इमाम अद्वी परिगृहीता धनुष्य पूर्णाम दद्यात् एतदेव ततो भूय एतदेव ततो भूय ये दो व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी के लिए मधु विज्ञान का उपदेश न करे क्योंकि उसर भूमि में विद्या सफल नहीं होती उसर भूमि में बीज डालना व्यर्थ हो जाता है उल्टा गलत हो सकता है ये दो व्यक्ति है या तो विरक्त शिष्य हो या ज्येष्ठ अपना पुत्र हो न अन्य समय कश्य अन्य किसी के लिए भी ये विद्या का उपदेश न करे मधु विद्या का मधु विज्ञान का जो मधु विज्ञान आदि आदित्यो भाई असो मधु असो बहु आदित्यो मधु इत्यादि से आया हुआ जो विज्ञान है आदित्य औपाधिक ब्रह्म का यह उपासना है यहां अन्य के लिए न अन्य समय कसमें चना अन्य किसी के लिए भी न करे कहे ये विद्या से उर्ण होने के लिए कोई सुख सोचता हो जो उपदेश मिला ये विद्या मिली जिस गुरु से कहते हैं यद्यपि अस्मयी इस आचार्य के लिए इस मधु विज्ञान का वक्ता जो आचार्य होगा यद्यपि अस्मय आचार्य इस आचार्य के लिए इमाम अदबी परिकृताम धनुष पूर्णाम दैत्याद इमाम पृथ्वी ये पृथ्वी है जो और कैसे है अदबी परिकृताम समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी थोड़ा एक एक छोटे से खेत नहीं पूरे समुद्र के घिरी हुई पूरी पृथ्वी धरती इमाम अदभी परिगृहिताम जल के द्वारा घिरी हुई जो पृथ्वी है और मरुभूमि नहीं धनुष पूर्णाम पृथ्वी का ऐश्वर्य जो जो धन चाहिए सारे धनों से लदी हुई पृथ्वी धनपूर्ण हो पृथ्वी पूरे समुद्र से घिरी हुई हो चक्रवर्ती बना दे गृहताम दद्या या आचार्य के लिए सारे ऐसी पृथ्वी दे कहते हैं ये तदेव तत्व ये उससे भी अधिक ये मधु विज्ञान है ये तदेव ये मधु विज्ञान में तत्व भूया उससे ज्यादा बढ़कर है ये तो देव तो भूय ये तो देते तो भूय ये मधु विज्ञान उससे बढ़कर है ये मधु विज्ञान उससे बढ़कर है ये ठीक है कहते हैं पुत्र शिष्याभ्याम पात्रांतरम प्रत्याचे कहते हैं पुत्र और शिष्य दो से अतिरिक्त पात्रांतर जितने भी होंगे सबका खंडन कर देता और किसी को नहीं देना था यद्यपि विद्या के पात्र छह बताए गए हैं शास्त्रों में आगे आप पढ़ेंगे हाँ, रैक्य मुनि और जान सूत्र के संवाद में कहा आएगा छह होते हैं विद्या के पात्र छह होते हैं तो किंतु अन्य चार के लिए नहीं दे दो के लिए दे कहना चाहते हैं विद्या के पात्र चार छह होंगे कहाँ कहाँ विद्या देनी चाहिए रैक को और जान श्रुति के संवाद में बातें आदि सुने आएंगे आपको <clears throat> कहते हैं पुत्र शिष्याभ्याम पात्रांतरम प्रत्याचार से पुत्र और शिष्य छोड़कर के अन्य जितने भी पात्र हैं विद्या के पात्र हैं मधु विज्ञान के पात्र हैं सबका खंडन कर देना और किसी को नहीं देना केवल दो ही को देना या तो ज्येष्ठ पुत्र हो या विरक्त शिष्य ऐसा ये कहते हैं <clears throat> न ये कहा वास्य में न अन्य स्मय कस्मय चमा अन्य किसी के भी नहीं अन्य किसी के लिए भी नहीं देना ये विद्या मधु विज्ञान ऐसा है प्रभु याद किसी को भी पता न करे तीर्थ द्वयम अनुज्ञातम दो दो तीर्थों की चर्चा हुई है तीर्थ माने पात्र विद्या के योग्य पात्र जहां विद्या दी जाती है पात्र तीर्थ तीर्थ होते हैं तीर्थ द्वयम अनुज्ञातम ये ये दो अनुमोदन किया जो दो तीर्थ हैं ज्येष्ठ पुत्र और विरक्त शिष्य जो है अनेक ऐसा प्राप्त नाम तीर्थानाम अनेक पात्र प्राप्त है यहां विद्या देने के लिए कहाँ कहां देना चाहिए रैको मुनि के संवाद में आएगा आगे अनेक प्राप्ता नाम तीर्था नाम आचार्य आदि नाम आचार्य आदि पात्र होते हैं विद्या देने के लिए ऐसे हैं आचार्य कहाँ कहां दे क्या कहाँ कहां देना चाहिए पात्र तीर्थ कितने तीर्थ हैं कितने पात्र हैं विद्या के पात्र उनमें से और किसी को न दे ये दो को ही दे विद्या ऐसी है कहा कितने पात्र होते हैं ब्रह्मचारी धनादायी मेधावी श्रोतप्रिय प्रिय विद्यांबा विद्या प्राह तानी त्रिधानी शर्म ऐसा आएगा भाष्य में स्मृति देंगे वहां हाँ, जब जान श्रुति राजा कन्या के साथ हजार गौ लेके जाएंगे तब विद्या के पात्र समझ के वहां संवर्ग विद्या का उपदेश करेंगे रेखो में वायुर्भाव संवर्ग ऐसा करके उपदेश करेंगे तो वहां यह आएगा भाष्य में पंक्ति आएगी स्मृति में कहा ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्यांबा विद्या प्राह तानि तीर्थानि शर्म ऐसा वाक्य आएगा भाष्य में आएगा वो माने ब्रह्मचारी विद्या के योग्य होता है माने और ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्मम आचरितम शीलम अश्य वेद पढ़ना जिसका स्वभाव बन गया वेद में लगा हुआ वेद पढ़ता रहता हूं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी धनदायी धन देने वाला आचार्य के लिए विपुल धन देने वाला और मेधा भी बुद्धिमान कोई हो सामने उसको भी देना चाहिए आगे समाज का उद्धार कर सकता हो व्यक्ति ब्रह्मचारी धनादायी मेधावी और श्रोत्रिय वेद पढ़ने वाला हो श्रोत्रिय कहते हैं श्रोत्रियम हम संदोधित है ऐसे सूत्र से श्रोत्रिय बनता है संदो अधित वेद पढ़ता हो वेद पाठी हो उसको देना चाहिए और प्रिय अत्यंत प्रिय हो उसको देना चाहिए और विद्यांबा विद्या प्राह एक विद्या वो जानता है दूसरी विद्या ये जानते हैं अपनी विद्या वहां दे करके उनसे दूसरी विद्या लेता है जो वो नहीं जानते वो विद्या उसके पास है परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं विद्यांबा विद्या प्राह एक विद्या से दूसरी विद्या कहता है ये छह होते हैं ब्रह्मचारी एक वेद पढ़ने वाला व्यक्ति निरंतर हमेशा वेद के अन्वेषण में लगा हुआ है उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम होता है ब्रह्मचारी धन आई विपुल धन देने वाला है मेधावी बुद्धिमान हो आगे समाज में जाकर के कुछ कार्य कर सकता हो और श्रोत्रिय वेद पढ़ता हो श्रोत्रिय हो और अत्यंत प्रिय हो ज्येष्ठ पुत्र और प्रणाय जो शिष्य होता है अत्यंत प्रिय में आता है और विद्यांबा विद्या प्राह अथवा एक विद्या से दूसरी विद्या को कथन करने वाला तानी तीर्थानी शर्मा विद्या के पात्र तीर्थ माने विद्या के पात्र मेरे मत छह हरे करके आया छह होते हैं तो यहां पर ये मधु विज्ञान के बारे में कहा कि यद्यपि पात्र और भी हैं विद्या के पात्र किंतु ये दो को छोड़ करके बाकी को नहीं देना मधु विज्ञान ऐसा है यहां ऐसा बोला जा रहा है ये कहा यहां भाष्य में न अन्य स्मय कस्मय चन प्रभुयात अन्य किसी के लिए विज्ञान न बोले किसके लिए कहा ज्येष्ठ पुत्र आया अथवा प्रणाली आया व अंत्यवासी दो ही है पात्र यहाँ या तो ज्येष्ठ पुत्र के लिए कथन करे अत्यंत प्रिय है वो अथवा विरक्त शिष्य हो अंतर्वासी शिष्य होता है विरक्त हो ये दो के लिए करेगा द्वयम अनुज्ञातम या दो ही तीर्थ का प्रश्न हुआ तीर्थ माने पात्र विद्या उपदेश कहाँ देना चाहिए विद्या कहाँ देनी चाहिए उसका पात्र अनेक ऐसा नाम तीर्थानाम तीर्थ या पात्र अनेक प्राप्त हैं विद्या के योग्य व्यक्ति कई हैं छह व्यक्ति है स्मृति में ऐसा कहा है धनदायी ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्यांबा द्वितीय अपराध तानी तीर्थानी संगम ऐसा आया है तो अनेकेशा प्राप्तानाम तीर्थानाम आचार्य आदि नाम आचार्य आदि जितने भी हैं इनमें सबका निषेध कर दिया जाता है कस्मात पुनः तीर्थ संकोचनम विद्याया कृतम पात्र के संकोच क्यों किया यहां दो को ही देना बाकी को नहीं देना ऐसा क्यों बोला तीर्थ मन पात्र विद्या के योग्य पात्र कहाँ देना चाहिए उसर भूमि में बीज डाल करके कोई फल नहीं होना परिश्रम व्यर्थ होता है उर्वरा भूमि हो वहां वो पात्र हो वहां बीज डालेंगे तो फल सफल होगा ऐसे विद्या के भी पात्र होते हैं कहां देना कहां नहीं देना इसलिए अकस्मात पुनः तीर्थ संकोचन विद्या या कृतम किस कारण से यहां पर ये जो मधु विज्ञान के लिए पात्र के संकोच तक क्यों किया संकोच क्यों किया छह बताया है स्मृति में और यहाँ क्यों संकोच किया दो को ही देना बाकी को नहीं देना क्यों कहा तब कहते हैं ये ऐसी विद्या है ये सामान्य विद्या नहीं है इसलिए सबको नहीं देना यद्यपि यद्यपि कहा सारी धरती पूरी धरती समुद्र से घिरी हुई धरती धन से पूर्ण हो पृथ्वी में जो धन होना चाहिए सारे धन माने फल फूल अनाज आदि सब पृथ्वी के धन है वो सब ऐसे लदी हुई हो धन से पूर्ण है पृथ्वी दे फिर भी इस विज्ञान के से वो मान बड़ा नहीं होता वो छोटा ही होगा उससे भी बड़ा है विज्ञान इतनी बड़ी वस्तु है ये कहते हैं यद्यपि अस्मयी आचार्य यद्यपि इस उपदेष्टा मधु विज्ञान के उपदेष्टा आचार्य के लिए इमाम कश्चित पृथ्वी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी को हम्म, अद्भि परिगृहता समुद्र से घिरी हुई पूरी पृथ्वी नहीं छोटी सी एक धरती एक टुकड़े जमीन दिया ऐसा नहीं अद्भुत परिगृहताम इमाम पृथ्वी ये पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को माने अद्वीप परिगृहिता माने समुद्र परिवेष्टिता समुद्र के घेरे में पड़ी हुई जो पृथ्वी है समस्ताम माने सारी पृथ्वी अभी तद्या सारी पृथ्वी के अस्या विद्या निष्क्रियार्थम आचार्य है इस विद्या से उरीर्ण होने के लिए आचार्य के लिए कोई दे इस मधु विद्या के लिए और खाली सुखी धरती नहीं कहते कैसी धरती दे धनस्य पूर्णाम पृथ्वी में जो धन होना चाहिए फल फूल अन्न आदि जो रत्न आदि होना चाहिए सारे धन से युक्त पृथ्वी पूर्णाम संपूर्णाम माने भोग उपकरण संपन्नाम यह अर्थ है माने भोग के साधनों से लदी हुई हो पृथ्वी ऐसी पृथ्वी दे कोई ना नासौ अश्य निष्क्रिय भवती फिर भी इस मद विज्ञान का निष्क्रिय नहीं होता है निष्क्रिय भवती यस्मात तत्वपि दानात इतने बड़ी दान है वो बड़ा दान है पृथ्वी इतने बड़ी पृथ्वी को दान देना हम्म। सारे भोग उपकरण से युक्त पृथ्वी को देना पूरी धरती देना इतना बड़ा दान है तथोपि दानात उस दान से भी पृथ्वी दान से भी ये तदेव यत मधु विज्ञान यत अर्थ यत मधु विज्ञान जो मधु विज्ञान है मधु उपासना है मधु विद्या दानम मधु विद्या का दान भूयो बहुत फलम उससे भी ज्यादा फल होता है इसका द्वीर अभ्यास आदरार्थ बोलते हैं दो बार कहा है ये तदेव तत्व भूय ये तदेव तत्व भूय या आदर देने के लिए ठीक है हम कहते हैं तीर्थद्वयम विद्या प्रदान है अधिकारी द्वयम तीर्थद्वयम का अर्थ क्या है यहाँ विद्या प्रदान में अधिकारी दो है जो मधु विद्या के प्रदान में अधिकारी दो ही अधिकारी हैं यद्यपि अन्य विद्या के प्रदान में तो छह अधिकारी हैं अन्य की विद्या देने के लिए छह व्यक्ति है ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्यांबा विद्या प्राह तान तीर्थान सममा स्मृति में छह है किंतु यहाँ तीर्थ द्वयम या तीर्थ द्वयम करके कहा ना अनुज्ञातम कहा इसके कहते हैं विद्या प्रदान या अधिकारी द्वयम तीर्थ तीर्थ विद्या प्रदान देने में या मधु विद्या देने में दो ही अधिकारी है निर्धारण ष्ठी प्राप्त ऐसा प्राप्त नाम तीर्थान है ना तो निर्धारण ष्ठी विभक्ति है यतश्च निर्धारण ऐसे सूत्र है ष्टी विमुक्ति करती है करता है आचार्य विद्यादाता हम्म, अनेक बार तीर्थ होने पर आचार्य दिन में कहा आचार्य का विद्यादान करने वाले के लिए नियम है सबके लिए विद्यादान न करे यही छह के लिए करे ऐसा आया है स्मृति में किंतु यहां तो और संकोच कर दिया दो के लिए विद्या दे बाकी ये विद्या दे मधु विज्ञान किसी को न दे आदि पदार्थ आदि पद है तीर्थानाम आचार्य आदि नाम ऐसा आया आदि पद से क्या लेना आचार्य आदि नाम आदि आदि से क्या लेना धनदायी श्रोत्रियो मेधावी गृह गृह ऐसे यही है वो स्मृति है वहां हरेक मुनि के शब्दों में भाष्य में आएगा वहां जान श्रुति और रैक मुनि के संवाद में आएगा वही है आदि पद से लेना श्रोत्रिय धनदायी हो श्रोत्रिय हो मेधावी विद्या की पात्र माने हुए हैं क्योंकि वो धनदायी समझ करके ज्ञान श्रुति को रई को मनी उपदेश करते हैं धन लेके आया एक हजार गाय और अपनी कन्या सेवा के लिए लेके आए तो धन दाता है तो विद्या के पात्र समझ के फिर को विद्या के उपदेश करना लग जाएंगे वहां पहले पहले थोड़ी सी गाय लेके आए तब तो हारे बार सुधर करके उनको है हाँ। ले जा नहीं चाहिए ऐसे बोल दिए माने जब गृहस्थाश्रम में जाना है तो पर्याप्त धन चाहिए ऐसे थोड़ी चलेगा आश्रम हाँ। ऐसा सोच करेगा ऐसा भेज दिए वापस राजा समझ गए ज्यादा चाहते हैं ये और सेविका भी चाहते हैं ले आए फिर तब उपदेश दिया है तो धनदायी मान के उपदेश दिया है <clears throat> तो यही कहा आचार्य अधिगम आया हुआ आदिपद का अर्थ होता है पद से ही आता है धनदायी श्रोत्रियो मेधावी से गृहते बोलो स्मृति का यहां संकेत दे रहे हैं सर्वेशा अर्थी नाम अत्र अधिकारम आशंका दूसरे की कहते यहां महाराज बात है जितने भी जो भी चाहते हो विद्या तो उसको सभी को अधिकार देना चाहिए सबको देना चाहिए विद्या सर्वेशा अर्थी नाम अत्र अधिकारम आशंकित विषय सभी अर्थियों को जो विद्या चाहने वाले हैं उनको सबको अधिकार मानकित मानना चाहिए शंका आगे तो कहा नहीं कस्मात प्रश्न कर दिया कस्मात तीर्थ संकोचन विद्या या कृतम पात्र का संकोच क्यों किया जाता है जैसे आजकल संकोच नहीं कहते तो उदाहरण है आचार्य लोग जा रहे कर रहे तो कहते हैं तो उत्तर दिया यद्यपि ये विद्या इतनी बड़ी विद्या है इतनी बड़ी विद्या है सारी धरती समुद्र से लदी घिरी हुई धरती और धन से लदी हुई धरती भोग उपकरण से संपन्न धरती कोई देता हो उस दान से भी बड़ा दान है दान मधु विज्ञान का दान यही कहना चाहते हैं आचार्य यदि पुनरुपादान क्रियापदे न तस्य अन्वय द्योतनाथम यहाँ आचार्य पद भाष्य में दो बार आ गया पहले आचार्याय इमाम कश्चित पृथ्वी अद्भि परिगृहताम समुद्र परिवेष्टम इत्यादि आचार्य पद आया फिर आगे जाकर के फिर निष्क्रियार्थम आचार्याय धनुष पुराण दो बार आचार्य पद दिया एक ही वाक्य में तो दूसरी बार जो आया हुआ आचार्य आचार्य पद किसके लिए है कहते हैं आचार्य आचार्य इति पुनरुपादान दोबारा आया हुआ जो आचार्य ये पद है वो पद क्रियापद है ना तस्व अन्वय देवता क्रियापद के द्वारा उसका संबंध दिखाने के लिए क्योंकि एक ही वाक्य में दो बार आचार्य या आचार्य पद आया है इस भाष्य में विद्यायाम आदरो बा मुख्यम अधिकारी अधिकार का कारण फलती विद्यायाम आदरो वा हम्म। दूर अभ्यास आदरार्थ कहा था किसके लिए ये उपनिषद के आदर के लिए है अथवा इस विद्या में आदर देने के लिए विद्या में आदर देने से क्या होगा मुख्य अधिकार कारण फलती विद्या में आदर देने से मुख्य अधिकारी को यहाँ पर विषय बनाएगा सभी को नहीं दिया जाएगा विद्या में आदर देने पर अनादर देने पर कहीं भी जाके विद्या दे देगा इस तरह से ये मधु विद्या की कहानी समाप्त हो जाती है अभी आदित्य औपाधिक ब्रह्म की उपासना बताई जा रही थी अब आगे गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना बताएंगे क्यों गायत्री जो छंद है उसके देवता आदित्य है तब सवितुर करके सविता संबंधी हम करते हैं वो गायत्री के देवता आदित्य देवता है इसलिए आदित्य औपाधिक उपा, ब्रह्म की उपासना के अंतर अब गायत्री औपाधिक ब्रह्म का उपासना होता है ये अपना है आगे ये कहना चाहते हैं ठीक है गते न ग्रंथे न उत्तर ग्रंथ से गतार्थत्व परिहरी पूर्व ग्रंथ से गत ग्रंथ पूर्व ग्रंथ उसके द्वारा आगामी जो ग्रंथ में गतार्थता नहीं है कुछ विशेष बात है पूर्व से ही बातें स्पष्ट हो जाए तो आगे कहने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं होता गते न ग्रंथे न पूर्व ग्रंथ के द्वारा उत्तर ग्रंथ से आगे आने वाली जो ग्रंथ है मानी गायत्री उपासना आगे आना है गतार्थत्व पर गतार्थता नहीं है ये खंडन करते हैं गतार्थता का यहां भाष्य में कहा यत एवं अतिशय अतिशय फला ऐसा ब्रह्म विद्या ये जो ब्रह्म विद्या है कैसी है अत्यंत फल देने वाली है अतिशय फल वाली है निर्तिशय फल वाली है क्यों क्रम मुक्ति देने वाली है ऐसे फल है ये अतः सा प्रकारांतरेणा भी है सा माने ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या अन्य प्रकार से भी कहना चाहिए एक प्रकार तो बता दिया आदित्य उपाधिक ब्रह्म का उपासना बताई अब मधु विज्ञान के माध्यम से अब आगे प्रकारांतर से भी कहना चाहिए गायत्री और उपाधिक ब्रह्म का भी उपासना बदलानी चाहिए कहना चाहते हैं गायत्री वय इत्यादि आरभ्य के कहना चाहते हैं ये गायत्री वही इत्यादि मंत्र गायत्री वय इदम सर्वम भूतम इत्यादि मंत्र से आरंभ करेंगे ये कहना चाहते हैं गायत्री द्वारा उच्चते ब्रह्म गायत्री के माध्यम से ब्रह्म को ही कहना है गायत्री के माध्यम से भी ब्रह्म को ही कहना है जैसे आदित्य के माध्यम से अभी ब्रह्म को कहा इसी प्रकार गायत्री के माध्यम से भी ब्रह्म को ही कहना है क्यों देखो बिना प्रतीक का आलंबन के बिना ब्रह्म को उपदेश करना मुश्किल है उपासना करना मुश्किल है इसलिए पहले आदित्य माने आलम्बन दिया गया था इसी प्रकार ये कहते हैं गायत्री के माध्यम से ब्रह्म का ही कथन होता है ब्रह्मणा सर्व विशेष रहित ब्रह्म कोई विशेष नहीं है हाथ पैर वाला है नहीं मुख कान वाला है नहीं लंबा है नहीं चौड़ा है नहीं कैसा पतला है नहीं मोटा है नहीं कैसा कहना कोई विशेष नहीं निर्विशेष है वह आत्मा ब्रह्म ऐसा है ब्रह्मणा सर्व विशेष रहित ब्रह्म ऐसा सर्व विशेष कोई विशेष नहीं वहां निर्विशेष है ऐसे ब्रह्म का नेति रेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य दुर्बोधत्व न इति न इति करके निषेध कर दिया जाता है जो भी पकड़े ऐसा है नहीं ऐसा यह है नहीं यह है नहीं ऐसा बोला जाता है इत्यादि विशेष के जो प्रतिषेध के द्वारा जाना जाने जाता है दुर्बोध है उसको समझना बड़ा मुश्किल है ब्रह्म को समझना कठिन है क्यों कोई विशेष होता तो इस प्रकार का होता है बताया जाता विशेष नहीं है निर्विशेष है इसलिए इसलिए कोई गायत्री का आलम्बन के माध्यम से ब्रह्म का उपासना बतलानी है एक आलम्बन देना प्रतीक देना पड़ेगा आलम्बन देना पड़ेगा कहा एकाएक ब्रह्म का ज्ञान कर प्राप्त करना ब्रह्म को उपासना करना संभव नहीं है आलम्बन के बिना इसलिए गायत्री आलम्बन दिया जा रहा है सत्सु अनेकेशु छंदसु गायत्र एवं ब्रह्म ज्ञान द्वारा दया उपादान प्राधान्य छंद शास्त्र में अनेक छंद है गायत्री छंद त्रिष्टुप छंद जगती छंद अनुष्टुप छंद बहुत सारे शिखर छंद आदि बहुत सारे छंद हैं तो उनमें से यहां पर ब्रह्म के उपासना करने के लिए गायत्री का आलम्बन क्यों लिया अन्य छंदों का क्यों नहीं लिया एक प्रश्न है गायत्री एक छंद है गायत्री का अर्थ छंद गायत्री छंद हम विभूति अध्याय में भगवान ने कहा गीता के दसवें अध्याय में यदि छंद शास्त्रों में मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो मैं गायत्री हूं गायत्री छंद हूं ऐसा कहा छंद शास्त्रों में मैं हूं हाँ, गायत्री के रूप में हूं गायत्री छंद के रूप में तो गायत्री का अर्थ एक संध है अच्छा अथवा गायत्री का अर्थ होता है संध्या त्रिसंध्या जो बोलते हैं ना एक का जाना दूसरे का आना जो संक्रमण काल होता है उसको संध्या बोलते हैं रात्रि को जाना दिन को उदय सूर्य उदय होना ऐसा समय है उसको संध्या बोलते हैं अथवा पूर्वान्न को जाना अपराह्न शुरू होना ऐसा जो एक बीच भाग उसको कहते हैं मध्यान्ह संध्या और दिन अस्त हो जाना रात्रि शुरू हो जाना ऐसे को समय को कहते हैं साय संध्या <clears throat> संध्या का नाम भी गायत्री है छंद एक छंद है गायत्री या छंद है छंद की चर्चा करते हैं संध्या की चर्चा नहीं छंद की चर्चा है सबसु अनेकेशु छंदसु यदि अनेक छंद है छंद शास्त्र में पिंगल ऋषि के द्वारा बनाया हुआ छंद शास्त्र है हाँ। तो अनेक प्रकार के छंद हैं उनमें सारे छंद होते हुए भी गायत्री आएगा ब्रह्म ज्ञान द्वार तया गायत्री ही ब्रह्म ज्ञान के उपाय है द्वार है माध्यम है गायत्री छंद ही ऐसा छंद है जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम होता है अन्य छंद ब्रह्म ज्ञान के माध्यम नहीं हो पाते गायत्री एवं ब्रह्म ज्ञान द्वार तया अनेक छंद होने पर भी गायत्री ही ब्रह्म ज्ञान के माध्यम होने से उपादानम गायत्री का ही उपादान ग्रहण किया जा रहा है क्यों ब्रह्म ज्ञान के लिए आलम्बन है गायत्री छंद प्राधान्यात ये प्रधान है एक दूसरी बात शोभाहरणात याज्ञिक लोग जब सोम लता को लेने जाते हैं जंगल में ला करके कूटना है सोम रस निकालना है तो गायत्री छंद का प्रयोग करते हैं सोम रस लाते समय सोम लता लाते समय जंगल से लाते हैं सोम का आहरण करते समय गायत्री छंद का प्रयोग होता है गायत्री छंद वाले मंत्रों का प्रयोग होता है जिसमें गायत्री छंद वाले मंत्र हैं उस मंत्रों का प्रयोग होता है जैसे गायत्री छंद वाला मंत्र तत्सवितुर वरिणम भरगुदी ये गायत्री छंद वाला मंत्र है ये ऐसे मंत्रों का प्रयोग होता है एक विशेषता गायत्री छंद की इसलिए यहां ब्रह्म की उपासना करना है गायत्री छंद के माध्यम से क्यों एक तो देते हैं सोमाहरणार्थ सोम का आहरण इसी गायत्री छंद वाले मंत्रों से होता है जंगल से जब सोमलता लाते हैं यज्ञ में कूट करके सोम रस निकाल के उसको यज्ञ समाप्ति तक पूजा करके बाद में पीते हैं लोग सभी मिलकर के अपाम सोमम अमृता अपोम बोलते हैं अंतिम में सोम सोम का आहरण इसी से होता है सोमलता लाया जाता है गायत्री छंद वाले मंत्रों के उच्चारण करते हुए एक कारण अन्य छंदों में विशेषता है गायत्री छंद का दूसरा इतर छंद छंदो अक्षर आहरण है ना इतर छंदो व्याप्त दूसरी बात एक बार कहते हैं तीन गए सोमरस लेने के लिए गए थे हाँ, गायत्री छंद जगदी छंद त्रिष्टुप छंद तीन गए थे किंतु त्रिष्टुप और जगती बीच में ही जग त्रिष्टुप ने जगती ने तीन अक्षर छोड़ दिया अपना थक करके ला नहीं सके वो जगदी छंद ला नहीं सका सोमरस को अड़तालीस अक्षरों में पैंतालीस अक्षर रह गया तीन अक्षर रास्ते में छूट गया उसका थकते थकते और और त्रिष्टुप ने क्या किया चौवालीस अक्षर वाला होता है एक अक्षर छोड़ दिया रास्ते में थक करके हाँ, बोझ हो गया ज्यादा हाँ, तिरचालीस अक्षर का हो गया ऐसी स्थिति हो गई फिर गायत्री छंद जाकर गायत्री छंद जा करके उसको भी ला करके पूरा किया इसलिए भी गायत्री की महत्ता है कहते हैं एक तो सोम का आहरण करने के लिए <clears throat> गायत्री छंद का प्रयोग होता है गायत्री छंद वाले मंत्र का प्रयोग होता है दूसरी बात इतर छंदो अक्षर आहरण है ना इतर छंदो व्याप्ति अच्छा कहते हैं इतर छंद जगती और त्रिष्टुप छंद आहरण के द्वारा अक्षर के आहरण के द्वारा उसके व्याप्त होने से यह छंद की विशेषता है तीसरी बात सर्वसवन व्यापक तीन सवन होते हैं प्रातः सवन प्रातः यज्ञ मध्यान्ह यज्ञ सायम यज्ञ तीन यज्ञ होते हैं गृहस्थों के होना चाहिए उसको सवन कहते हैं प्रातः सवन मध्यान्ह सवन सायम सवन तीनों में व्याप्त है गायत्री कैसे व्याप्त है बताएंगे ठीक है स्पष्ट कर देंगे इसलिए भी गायत्री का ही यहां गायत्री छंद का ही ब्रह्म ज्ञान के आलम रूप से लिया गया यहां और यज्ञ प्राधान्यम गायत्री है इससे सब होने के कारण क्या होता है यज्ञ में प्रधानता है गायत्री छंद का गायत्री छंद वाले मंत्रों का प्राधान्य है छंद माने छंद माने छंद वाले मंत्र उनका प्राधान्य है यज्ञ क्यों ऐसे ऐसे काम है सोमरस लाया जाता है गायत्री छंद वाले मंत्रों के द्वारा और और भी में व्याप्त है वो इत्यादि और दूसरी बात गायत्री सारत्वाच ब्राह्मण से जो ब्राह्मण जाति का होगा उसके लिए गायत्री सब कुछ है गायत्री सार है उसका बाकी कुछ नहीं जैसे दूध का सार मक्खन होता है ब्राह्मणों के जीवन में कोई सार है तो गायत्री है यदि ब्राह्मणाभिमानी है भाई ब्राह्मण हूं ऐसे अभिमान है उसके लिए सार यही गायत्री है गायत्री सारत्वाच ब्राह्मण से मातरम इव हित्वा गुरुतराम गायत्री तथो अन्य गुरु तरफ न प्रकृति जैसे माता पुत्र के जितने हितकर होती है कुपुत्रो तो कुजित दिन कुमाता अनुभव होती ऐसा कहते हैं माता पुत्र के लिए हितकर होती है ये गायत्री कैसे मात्र माता के समान है उसको परित्याग करके गुरुतराम गायत्री हित्वा ये सबसे बड़ी गुरु से भी गुरु ऐसे महान गायत्री को छोड़कर तथो अन्य गुरुतर न प्रतिबद्ध अन्य कोई गुरुतर पदार्थ नहीं पाया जाता ऐसे विशेष पदार्थ नहीं ऐसे गायत्री छंद संबंधी मंत्रों की महिमा है यथोक्तम ब्रह्मा भी हाँ। वो ब्रह्म भी जो पूर्वोक्त ब्रह्म भी गायत्री छंद वाले छंद के बिना नहीं मिलेगा इसलिए गायत्री छंद का यह प्रयोग करने जा रहे हैं गायत्री छंद वाले से ही प्रयोग करना चाहते हैं <clears throat> तस्याम अत्यंत गौरव से प्रसिद्ध है ना वो गायत्री छंद में अत्यंत गौरवता है ये प्रसिद्ध है लोग बोलते हैं लोग में तो भी ऐसा कहते हैं कहा अतो गायत्री मुखी नहीं वह प्रमोचित इसलिए गायत्री के माध्यम से गायत्री माने गायत्री छंद वाले मंत्र है गायत्री छंद गायत्री छंद के माध्यम से ही ब्रह्म कहा जाता है ठीक है हम कहते हैं सवित्र द्वारा का ब्रह्म विद्या अनंतरम तदेवता का गायत्री द्वारा तद विद्या उपदिश्यते सविता के माध्यम से ब्रह्म विद्या कथन किया माने ब्रह्मोपासना कथन की मधु विद्या सवित्री द्वार का ब्रह्म विद्या सवित्री है द्वार जिसमें माध्यम सविता असौगा आदित्य देव मधु करके आया था आदित्य को आलम्बन करके ब्रह्म की उपासना बताई थी पूर्व में सवित्र द्वार के ब्रह्मविद्यानंतरम ब्रह्मोपासना के अंतर तद देवता का सविता जिसकी देवता है किसकी गायत्री का गायत्री कब गायत्री मंत्र का जब कब करते हैं जब सूर्योदय काल में मध्यान्ह काल में सूर्यास्त काल में सूर्य को लेकर के होता है वो सूर्य के लिए मंत्र है वो हाँ, वो सूर्य के भीतर में जो परमात्मा है उसके लिए मंत्र होता है तो तद देवता माने सवित्री देवता का गायत्री द्वारे ना सवित्री देवता वाला गायत्री के माध्यम से तद विद्या उपदेश्य गायत्री के माध्यम से उस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है माने ब्रह्मोपासना है उपासना है तो उपासना प्रकरण है विद्या का उपासना ब्रह्म विद्या या विवक्षित ब्रह्म उपदिष्टाम किम गायत्री उपदेश है ना इतनी आशंका जब ब्रह्मोपासना आपको यहाँ विवक्षित है तो ब्रह्म का ही उपासना बताइए ना आप सीधा फिर गायत्री को माध्यम बनाने की आवश्यकता क्या है यहाँ गायत्री छंद को क्यों लाना है ये शंका आ गई ब्रह्म विद्या या विवक्षित यदि विवक्षित है ब्रह्म विद्या मानी या विद्या मानी उपासना ब्रह्म उपासना यदि विवक्षित है तो ब्रह्म ही वो उपदेश फिर वही उपदेश कीजिए आप किम गायत्री उपदेश गायत्री को उपदेश क्यों यहाँ ये प्रश्न उठता है तो कहते हैं गायत्री द्वारा उच्चते ब्रह्म गायत्री के माध्यम से ब्रह्म को कहा जाता है तो ये कहा तथा भी छंदोतराणी विहाय किमिति गायत्री द्वारा ही प्रमुख उद्देश्य थे कहते हैं फिर भी चलो कोई गायत्री एक छंद है गायत्री माने एक छंद का नाम है गायत्री छंद साहब हम ऐसा कहा है दसम अध्याय में भगवान ने विभूति अध्याय में सारे छंद शास्त्रों में गायत्री छंद हो ऐसा कहा है तथा भी चलो आपको कोई छंद चाहिए ब्रह्म को उपदेश करने के लिए क्योंकि ब्रह्मणा सर्व विशेष रहित से नीति नीति इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य से दुर्बोधत्व आदि भाष्य में कहा भाष्यकार ने ब्रह्म कैसा है कोई विशेष नहीं है यह है ब्रह्म बदलाना मुश्किल है तो किसी न किसी आलम्बन के द्वारा ही जाना प्रतीक प्रतीक लेकर के चलना पड़ेगा तो विशेष नहीं निर्विशेष होने से नीति ने के द्वारा सारे निषेध होने के बाद जो अवधि में बचेगा वो ब्रह्म होता है ऐसी स्थिति है उसको बदलाना मुश्किल है जानना मुश्किल है इसलिए गायत्री को माध्यम बनाना ही कहा गायत्री छंद को तथा भी चलो छंद को यदि माध्यम बनाना भी हो या पद भी छंदोतराणी विहार अन्य भी छंद है ना बहुत सारे छंद है छंद शास्त्र पिंगल ऋषि के द्वारा बनाए गए छंद शास्त्र बहुत सारे हैं छंदोतराणी विहाय अन्य छंदों के परित्याग करके किम यदि गायत्री द्वारा भी ब्रह्म उपदेश क्यों गायत्री के द्वारा ही ब्रह्म का उपदेश क्यों किया जाता है ये प्रश्न आया तो कहा सत्सु भाष्य कहा देखो भाई अनेक छंद होने पर भी गायत्री की प्रधानता है ये कहना चाहते हैं सत्सु अनेक ऐसे सु अनेक छंदों के होने पर भी गायत्री आए वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा तया उपादान प्राधान्य गायत्री को ही ब्रह्म विद्या के साधन मान कर ग्रहण करना प्रधानता है गायत्री में अन्य छंदों की अपेक्षा प्रधानता है ये कहना चाहते हैं ठीक है ब्रह्म ज्ञान द्वारा तया ब्रह्म ज्ञान के माध्यम है यदि गायत्री का उपासना ठीक ठीक करता हो जीवन में पुरस्कार आदि ठीक करता हो ब्रह्मज्ञान होगा उसको ब्रह्मज्ञान द्वारतया ब्रह्मज्ञान के माध्यम होने से <clears throat> गायत्री ऐसा है तद उपादेयता उपादेयतया तो उसका उपादेयता है प्राधान्य हेतु महा गायत्री अनेक छंदों हैं छंदों में प्रधान है इसमें कारण बतलाते हैं क्यों हेतु क्या है तो कहा सोमाहरणा जब सोम लता लाना होता है जंगल से यज्ञ यज्ञ मंडप में लाना है उसको रस निकालना है तो उस स्थिति में गायत्री छंद वाले मंत्रों का प्रयोग करते हैं यज्ञ को अन्य छंद अनुष्टुप छंद आदि का प्रयोग नहीं करते गायत्री छंद वाले मंत्र का प्रयोग होता है ये गायत्री की विशेषता है गायत्री छंद का ही कहते हैं समाहरणात ये बोला टीका में कहते हैं सोमस्य आहरणम आनयनम सोम को लाना सोमलता जंगल में है अब यहां लाना है ला करके उसको कूट करके उसका रस निकालना है सोम रस रखना है यज्ञ जब तक एक वेदी में रख करके कलश में रख करके पूजा करनी है यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद में सोलह ऋतु और यजमानी यजमानी मिलकर के पीना है उसको यज्ञ का प्रसाद पीना है सोमरस ऐसी चीज है सोम से आहरण आनयनम सोमाहरणाद बोला था सोम का आहरण करना मैंने आनयन लाना उसमें इसी मंत्र का प्रयोग इसी छंद वाले मंत्रों का प्रयोग होता है ये छंद है छंद वाले मंत्र जितने उनका प्रयोग होता है सोम से आहरण तत्र सोमाहरण के समय में तुम ये साधन है कौन गायत्री छंदस का नाम विचाम याजस के हाँ। कहते हैं याजक ही रिश्यते कहा उसमें सो, सोमा हरण करते हैं जब सोमा लाते हैं उस काल में गायत्री छंद वाले जो ऋचा है मंत्र है गायत्री छंद काम ऋचाम ऋचा मान मंत्राणाम उन मंत्रों का हाँ। याजक ऋष्यते याज्ञ के द्वारा यही पढ़ा जाता है याज्ञ गुल इसी मंत्र गायत्री छंद वाले मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं उस काल में जब जंगल से सोमलता ला रहे हैं प्रधानता है छंद शास्त्रों में गायत्री का इसलिए कहा एक तद युक्तम तस्या एक प्राधान्य इसलिए गायत्री का जब सोमरस सोमलता लाते समय में एक गीत लोग प्रयोग कर रहे हैं इसलिए क्या है तद युक्तम ये ठीक है तस्या मैंने गायत्री छंद छंद गायत्री एक प्राधान्य गायत्री का एक में प्राधान्य है क्योंकि सोम सोमलता लाते समय उसका प्रयोग हो रहा है एक यदवा अथवा दूसरी व्याख्या देव ही सोमाहरणम इच्छा भी देवता लोग एक बार सोमरस सोमलता लाने के लिए गए सोम लेने के लिए गए यदवा देवई सोमा हरणम इच्छा वीर छंदसाम गायत्री त्रिष्टु जगती नाम तादर्थन नियोगे देवताओं ने तीन छंदों का प्रयोग किया गायत्री जगती त्रिष्टु का प्रयोग किया सोम लाने के लिए कौन कौन ला सकता है त्रिष्टु को भेजा जगती को भेजा बाद में गायत्री को भेजेंगे देवताओं ने ऐसा भेजा देव ही सोमाहरणम इच्छा दी सोमाहरण चाह सोमा आनंद चाहते थे देवता लोग छंद शाम जो छंद है गायत्री त्रिष्टुप जगती नाम गायत्री छंद त्रिष्टुप छंद जगती छंद होगा तारथ्य निरोगा उस सोमरस लाने के लिए उपयोग कर दिया नियोग नियोग करने पर उपयोग करने पर जाओ लाओ बोला जगती त्रिष्टुभयोर त्रिष्टुभोर बद्धे मार्गम अशक्तिया जगती और त्रिष्टुप दोनों के दोनों की स्थिति होगी बीच में मार्ग में शक्तिहीन हो गए असत्य निवृत्त हो वापस हो गए वहां रास्ते से वापस आए सोम तक जा नहीं पाए जगदी छंदा और त्रिशुल छंदा निवृत्त गायत्री सोमम प्राप्त और गायत्री में क्या है सोम को प्राप्त करके वहां जा करके जहां सोम है वहां पहुंची गायत्री छंद पहुंचा पहुंच करके प्राप्त रक्षिणा तस् विजित्य उसका रक्षक जो थे रक्षा करने वाले को रक्षी रक्षी बोला रक्षम अस्य अस्थित रक्षी रक्षी रक्षिण रक्षिणा उसको जो रक्षा करके बैठे हुए थे सोम को लेकर के बैठे हुए लोग थे उनको जीत करके विजित विजय प्राप्त करके गायत्री ने तम देवेद्य समाहरत उस ओम को देवताओं के लिए आनंद किया गायत्री ने इति ऐतरे के ब्राह्मणे सोमो भाई राजा मुस्लिम लोके आशित इति तो यह ऐतरिक ब्राह्मण में ऐसी कहानी है या कहा वहां कहा है सोमो भाई राजा अस्मिन लोके आशित इस लोक में सोम नाम का राजा था यहां से आरंभ करके ये गायत्री छंद के बारे में ऐसे कहा मैंने कृष्ण जगती तो रास्ते से वापस हो गए जा नहीं सके वहां तक और गायत्री वहां पहुंच करके जो सोम के रक्षक लोग थे सोम लेकर के बैठे हुए थे उनको जीत करके ला करके देवताओं को दिया इसलिए गायत्री छंद की प्रधानता है प्रसिद्धता <clears throat> अतः तत् प्राधान्य मित्र गायत्री छंद का प्राधान्य है तत्र भी हेतुअंतर और भी हेतु है और भी कारण है गायत्री की प्रधानता में अन्य छंदों की अपेक्षा गायत्री में प्रधानता है गायत्री छंदों में इतर छंदो अक्षर आहरण न इतर छंदो व्याप्त्याच ये दूसरा हेतु दिया अन्य छंदों के अन्य छंदों ने क्या किया असक्त होकर के रास्ते में अक्षर छोड़ दिया अपना अक्षर ही छोड़ दिए ऐसी स्थिति में फिर गायत्री जाकर के उन छूटे हुए अक्षर को लाकर के उनको पूरा किया ये भी कहते हैं कैसे है टीका भी कहते हैं उष्णिक अनुष्टुप प्रवृति ने उष्णिक अनुष्टुप प्रवृति ने इतना ही छंदांशी उष्ण गए अनुष्टुप आए जितने भी छंद है अन्य छंद है तेसाम पादशो अक्षराणी सप्त अष्टादि संख्या कहानी मान उनके पाद में क्या होते हैं एक एक पाद अक्षर होते हैं किसी के आठ अक्षर वाले पाद होते हैं किसी के सात अक्षर वाले पाद होते हैं माने उष्टे शब्द है अनुष्ट शब्द है इत्यादि शब्दों में कहीं तो सात अक्षर वाले हैं कहीं आठ अक्षर वाले हैं तेसाम आहरण आपादनम उनके आहरण करना ग्रहण करना गायत्री अक्षर ही पारदर्श षडवी क्रिय थे गायत्री के कितने होते हैं पाद में छह अक्षर होते हैं चौबीस अक्षर की गायत्री होती गायत्री शब्द कितने अक्षर है चौबीस अक्षर की प्रत्येक पाद में छह अक्षर है उसके छह चौबीस चौबीस चार पाद वाली है चतुष्पदा गायत्री तो तो सात अक्षर आठ अक्षर वाले छंद वाले दूसरे हैं अनुष्टुप है हाँ। अनुष्टुपादी पुष्टिक है इत्यादि उनमें क्या करते हैं तो गायत्री के पाद पाद के द्वारा एक एक पाद में छह छह अक्षर करके ले करके गायत्री पाद सर्वी क्रियते छे छे कर दिया जाता है अधिक संख्या या न्यून संख्या मंत्रण असमान जो अधिक संख्या होती है न्यून संख्या के बिना अधिक संख्या नहीं होती है गायत्री की छह संख्या उसमें है सात अक्षर वालों में भी आठ अक्षर वालों में भी है उष्णिक में भी है अनुष्टुप में भी है क्योंकि उष्णिक अनुष्टुप शब्द आठ अक्षर का ही पाद वाला होता है उष्णिक शब्द सात अक्षर वाला होगा किंतु गायत्री छह अक्षर वाला है किंतु सात अक्षर वाले में भी छह अक्षर है आठ अक्षर वाले में छह अक्षर है अधिक संख्या जो होती है न्यून संख्या के बिना अधिक संख्या होती नहीं एक नहीं है तो सौ नहीं बनेगा सौ बनाने के लिए एक चाहिए न्यून संख्या चाहिए उसमें इसलिए एक तस्मात इतरेश छंदसु गायत्री व्याप्त है इतर छंद में गायत्री की व्याप्त है इसलिए प्रधानता है माने उष्ण आदि में भी गायत्री है क्योंकि छह छह अक्षर वाली और आठ अक्षर वाले में भी है सात अक्षर वाले में है अथवा दूसरी बात गायत्री की प्रधानता और भी अथवा गायत्री व्यतिरिक्त हो गायत्री से अतिरिक्त दो त्रिष्टुप जगती छंद जो त्रिष्टुप छंद जगती छंद दो छंद है सोमाहरणा उद्यत हो हम सोम का आहरण करेंगे करेंगे तैयार हो गए सोम लाएंगे जंगल से करके गए उद्यत हो उद्यत होने पर असत्य और मार्ग मार्ग मध्य असत्य हो गए हम्म, पहले तो तैयार हो गए थे असमर्थ होने से होने पर मार्ग मध्य जगत्या तेक्तानी त्रीणी अक्षराणी असमर्थ होकर के रास्ते में अपने तीन अक्षर छोड़ के आ गई आ गई जगती क्षमता गया था सोम लेने के लिए सोम तो नहीं ला सका अपने ठग थक गए ठगने के कारण तीन अक्षर छोड़ दिया रास्ते में जगती ने अच्छा त्रिष्टुवातु एकम अक्षर हुआ त्रिष्टुम ने एक अक्षर छोड़ दिया रास्ते में अच्छा तथा अष्टा चतरिशत अक्षरा जगती जो अड़तालीस अक्षर वाली जो जगती छंद है वो छंद है पंच चतरिशत अक्षरा समृद्धा पैंतालीस अक्षर के हो गए वो तीन अक्षर रास्ते में छोड़ दिया उसने चतुष्ट अक्षरा त्रिष्टुप और चौवालीस अक्षर वाला जो त्रिष्टुप छंद है वह त्रिचत्वारिशत अक्षरा संप्रकार त्रिचालीस अक्षर वाला हो गया स्थिति है तथा गायत्री सोमम आहती और गायत्री क्या की और सोम लाती हुई सोम ला रही है सोम रस को सोमलता को लाती हुई गायत्री सोमम आहनंदी गायत्री सोम को लाती हुई जो गायत्री है त्यक्ता नाम अक्षराणाम आहार उन्होंने जो त्याग दिया था अक्षर असमर्थ होकर के अपने शरीर का अंग छोड़ दिया था उसको भी आहरण किया लाया सोम भी लाई हाँ, जगती के जो तीन अक्षर भी लाई त्रिष्टु के एक अक्षर भी लाई आहरण पूर्णता हम तय और आपाते उन्हें पूरा कर दिया फिर पैंतालीस बन के बैठी हुई जगती को अड़तालीस बना दिया हाँ, त्रिचालीस बन के बैठी हुई त्रिष्टु को बना दिया चौवालीस पूर्णता हम तय उन दोनों को प्राप्त करके दिया व्याप्य सीधा उनमें व्याप्य होंगे गायत्री ये तत्प्राधान्य मित्र तो गायत्री के प्रधानता है इसलिए गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म के उपासना बताई जाती है तत्र भी हत्वंद्रम और भी है उसी विषय में गायत्री के विषय में एक और कारण है प्रधानता गायत्री की क्यों सर्व सवर्ण प्राधान्याद कहा था व्यापकत्वाच कहा था यज्ञ प्राधान्य गायत्री तीनों तीन यज्ञ होते हैं प्रातः यज्ञ मध्यान्ह यज्ञ सायकाल यज्ञ तो तीनों यज्ञों में प्राधान्य है गायत्री का इसलिए भी यज्ञ में गायत्री का प्राण होता है ये कहना चाहते हैं सर्वाणी सबलम जितने सबन होते हैं या यज्ञ होते हैं माध्यम सबनम प्रातः सबनम माध्यम सबनम और तृतीय सबनम इति ये तीन सबन होते हैं तीन याग होते हैं ग्रस्तों के यहाँ प्रातः यज्ञ मध्यान्ह यज्ञ सायं यज्ञ होना चाहिए अच्छा सर्वाणी सभी यही है यज्ञ प्रातः सवनम माध्यम सवनम तृतीय सवरम इतनी तेषु उन यज्ञों में गायत्री व्यापकत्व मिश्रणम गायत्रम प्रात सवनम त्रैष्टवम माध्यम सवनम जागतम तृतीयम सवनम थे भी तो गायत्री का मिश्रण है तीनों सवनों में कहते हैं गायत्रम प्रात सवनम प्रात सवन में गायत्र होता है और त्रैष्टवम माध्यम सवन यद्यपि ऐसा है त्रिष्टुभ होता है मध्य दिन में सवन का और जगती छंद होता है तृतीय सवन में भी होने पर भी त्रिष्टुभ जगत्य और गायत्री व्याप्त रूप है त्रिष्णुव्रत जगत क्या है अपने अंग छोड़ दिया था उन्होंने एक बार उसको ला करके गायत्री में पूरा किया यद्यपि सवन में तो आता है प्रातः सवन गायत्री और त्रिष्टु होता है माध्यम सवन माध्यम सवन त्रिष्टु छंद वाला होता है और सायम सवन होता है ये जगती छंद वाला ऐसा होने पर भी होता क्या है जगती और त्रिष्टु की जो हालत हो गई थी रास्ते में सोमरस लेने गए सोमरस तो ला नहीं सके अपने अपने अंग छोड़ के आए जगती ने तीन अक्षर छोड़ दिया था और त्रिष्टुम ने एक अक्षर छोड़ दिया गायत्री ने लाकर के पूरा किया उसको इसलिए ये कहा गायत्रम प्रात सवनम त्रष्टुम माध्यम सवनम जगतम जागतम तृतीय सवन इति स्थिति भी है तो ऐसा है एक में तीनों में गायत्री प्रधान नहीं है प्रात सवन में गायत्री प्रधान है मध्यान्ह सवन में त्रिष्टुम संत प्रधान है और सायम सवन में जगती संत प्रधान है होने पर भी त्रिष्ठुप जगत्योर गायत्री उत्तर उगता त्रिष्ठुप जगत को जगती छंद को गायत्री व्याप्त है पहले बता दिया उनके थोड़ा हुआ अक्षर को लाकर के गायत्री ने पूरा किया बता दिया इसलिए तस्या पादाभ्याम मुखे में सोमाहरण है ना इसलिए गायत्री में स्थिति है कि अपने पैरों से मुख से सोमाहरण के द्वारा सवर त्रय संबंधार तीनों सवर्ण के संबंध पाद माने छह छह अक्षर के माध्यम से है इत्यादि करके सबन त्रय संबंध तीनों सबन के संबंध होने से अतस्य तस्या अस्थि एक प्राधान्य इसलिए उस गायत्री छंद का एक छंद वाले मंत्रों का गायत्री छंद का तो नहीं गायत्री छंद वाले मंत्रों का यज्ञ में प्राधान्य है ये कहा टिप्पणी की है पूर्ववद ऐतरेक ब्राह्मण स्थान कांचित कथाम अप्रत्या पादाभ्याम पादाभ्याम मुखे न इत्यादि समाहरण इत्यादि जो कहा ये भी ऐतरेक ब्राह्मण की चर्चा है कथा है वहां ये कहा जैसे पूर्व में कथा कही वैसे है कहते कर्मणि तत्प्राधान्य भी कुतो ब्रह्म विद्याम तत्प्राधान्यम चलो कर्म में तो प्रधानता गायत्री की दिखाया आपने सोमाहार आदि दिखा करके किंतु यहाँ ब्रह्मोपासना में उसकी प्रधानता क्यों कोई भी छंद लो गायत्री छंद क्यों लेना ये शंका है कर्मणि तत्प्राधान्य भी कर्म में गायत्री छंद वालों के प्रधान होने पर भी कुतो ब्रह्म विद्यायाम तत्प्राधान्य ब्रह्म विद्या में उसकी प्रधानता कैसे प्रश्न आया तब तो उत्तर देते हैं गायत्री सारत्वाच ब्राह्मण से जो ब्रह्म बीज होगा ना गायत्री सार वाला है गायत्री के बिना ब्रह्म मिलने वाला नहीं है ये कहना चाहते हैं ठीक है कहा ब्रह्म विद्यायाम तत्प्राधान्य में विशेष ब्रह्म विद्या में उसी प्रधानता है ठीक है गायत्री में आलम्बन आलम्बन प्रतिबद्ध थे ब्रह्म गायत्री के आलम्बन से ही ब्रह्म प्राप्त करता है गायत्री का जब तक आलम्बन नहीं करेगा तब तक ब्रह्म प्राप्त नहीं कर सकता हाँ, ये बोल दिया गायत्री में आलम्बन गायत्री को आलम्बन बना करके सहारा लेकर के प्रतीक बना करके प्रतिपत्य ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है प्राप्त करता है ब्रह्म इत्यत्र लोक प्रसिद्धि में अनुकूल है लोक की प्रसिद्धि है इसलिए पहले बोलते हैं संन्यास के पहले कम से कम पुरस्कार करो ऐसा बोलते हैं बाप गायत्री जब वो बोलते हैं पुरस्कार करो बोलते हैं <clears throat> ऐसा कहते हैं तस्याम इत्यादि भाषा में कहा तस्याम अत्यंत गौरव से प्रसिद्ध उस गायत्री छंद में अत्यंत गौरव प्रसिद्ध है लोग बोलते हैं ऐसा गायत्री के बिना कुछ नहीं होता बोलते हैं ऐसा कहा <clears throat> ठीक है अभी कहते हैं गायत्री ब्रह्मज्ञान द्वारत्व उपादानम उक्त हेतु सिद्धांत गायत्री जो है ब्रह्मज्ञान के द्वार है दरवाजा है जैसे कि माने गायत्री के माध्यम से ब्रह्म तक जा सकता है व्यक्ति इसलिए यहाँ गायत्री या आलम्बन करके ब्रह्म का उपासना बताना है ये बताना चाहते हैं गायत्री और ब्रह्म ज्ञान द्वार गायत्री ब्रह्म ज्ञान के द्वार है माध्यम है इसलिए उपादान इसलिए ग्रहण होता है गायत्री का उगते उगते हेतु सिद्धम पूर्व में जितने हेतु दिया था सोमाहार आदि हेतु में दिया सिद्धम यदि उपसंग अत का अतो गायत्री मुखे नहीं ब्रह्मोच्चते मुख माने प्रधान गायत्री प्रधान ने करके ही आप ब्रह्म को कहा जाएगा गायत्री के माध्यम से ही ब्रह्म का कथन होगा उपासना कही जाए कहा समय हो गया यहीं रखते फिर करेगा ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु हे मयि सन्तु ॐ शांति शान्ति शान्ति